तो क्या जो शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के पीछे चला उसकी मानिंद है जो अल्लाह ताला की किसी नाराजगी के साथ लौटा और उसका ठिकाना तो जहन्नुम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है